तो यंग लोग प्रक्रिया यंगो यंगोचि यंगो ची प्रत्यय लुक सकारा तम बिना क्वचित अनैमितिको यमंतरंगवादादो भवती यंगो अचीच यंग अचीच यंग ष्टियंत अचिच अच पर हो तो भी यंगोचि प्रत्यय यहाँ सिद्धांत कौन में यंगो अच प्रत्यय ऐसा पाठ है अचि प्रत्यय का अर्थ अच यहाँ अच एक प्रत्यय अच प्रत्याहार नहीं है अच प्रत्याहार होगा तो प्रत्यय का विशेषण हो जाएगा अजादि प्रत्यय हो जाएगा ये अच एक प्रत्यय है नंदी ग्रही पचादि भी हो ल्यूणी अच प्रत्यय होता है अच प्रत्याहार यहाँ जो सूत्र में अच है ये किसे बनेगा ये अंगोच से सूत्र से जो अच है ये प्रत्याहार है या नहीं है प्रत्याहार नहीं है अच के प्रत्यय है चकार के हलन से संज्ञा और रहता है अच प्रत्याहार करेंगे तो अच वल अल हो जाएगा आजादी प्रत्यय हो जाएगा अच्छी प्रत्यय तो अच रूप प्रत्यय अच प्रत्यय पर हो तो भी लुक हो जाएगा चौदिन से क्या हुआ सकारात तम बिना भी क्वचित तम बिना कम बिना प्रत्यय बिना औच प्रत्यय के बिना भी कहीं लुक हो जाएगा तो जहाँ औच प्रत्यय पर रहते तो लुक होता है वहां तो औच प्रत्यय पहले आएगा तो लुक होगा जहाँ औच प्रत्यय के बिना लुक हो जाता है वहाँ क्या निमित्त है कोई निमित्त नहीं औच प्रत्यय के बिना भी यदि लुक हो गया कोई निमित्त नहीं निमित्त नहीं तो इसको क्या कहेंगे अनियमित कह जिसका बिना कोई निमित्त नहीं अयम अंतरंगत्वात आदो भवती पहले हो जाएगा अस्प्रत्यय होने पर होगा तो तो अस्प्रत्यय को निमित्त मान करके जो अस्प्रत्यय के बिना हो जाता है तो आदि में पहले ही हो जाएगा जब लुक होना है तो पहले हो जाएगा अंतरंग यम अंतरंगत्वात आदो भवती अल्पापेक्षम अंतरंगम अल्पापेक्षा करने से अंतरंग है पहले हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यंग को लुक हो जाएगा यंग होने पर धातु भू धातु भू धातु से यंग प्रत्यय करेंगे यंग लुक प्रक्रिया में यंग करेंगे किस सूत्र से उसी सूत्र से यंग होगा यंग का लुक हो जाएगा बिना कोई प्रत्यय भू से यंग आया यंग का लुक हो जाएगा किस सूत्र से पहले लुक हो गया लुक होने पर क्या बचा भू यह नहीं रहा लुक हो गया तथा प्रत्यय लक्षण न यंगम तत्वा द्वित्व प्रत्यय पे प्रत्यय लक्षण प्रत्यय लक्षण ने यंगम ध्वनि से द्वित्व हो जाएगा प्रत्यय पे प्रत्यय लक्षण होगा नंद मतांग से नंद मतांग से निषेध करता है नहीं लुक है ना नहीं प्रत्यय से लुक सुलुप लुक शब्द से लुक होने से न लुमतांग से उसको निषेध करेगा किंतु किसको निषेध करता है अंग कार्य को निषेध करता है ये जो सौन्य अंग से युक्त होता है ये अंग कार्य नहीं है सन प्रत्यय पर रहते यंग प्रत्यय पर रहते दित्त होता है क्या सन्य अंग सूत्र से जो दित्त होता है सन प्रत्यय रहते अंग को दित्त यंग प्रत्यय रहते अंग को दित्त ऐसा है नहीं ऐसा नहीं सन्य को क्या कहता है सनंत यंगंत से दित्व यंगंत को दित्व होता है सनंत का दित्व होता है यंग स्तन प्रत्यय पर रहते अंग का दित्व नहीं है अंग कार्य नहीं होने से न लुमतांग से निषेध नहीं करेगा <coughs> न लुप्तांग से निषेध कब करेगा अंग कार्य करना हो तो सन्य अंग सूत्र से जो दित्व होता है ये समुदाय सनंत यंगंत का दित्व होता है तो जिसको एकाध लक्षण जिसको द्वित होगा अलग किंतु हम लोग कार्य नहीं उनसे द्वित हो जाएगा भू को द्वित हो जाएगा भू भू हो गया और अभ्यास में अभ्यास में से सह अभ्यास से चर्च अभ्यास में क्या रहेगा भू भू धातुता तो दे धातु संज्ञा के सूत्र से हाँ, सनाद्यंता लड़ा दे उनसे से यहाँ गीते अनुदात गीता अपन बदल गया यंग तो हुआ प्रत्यय किंतु तो लुक हो गया इसलिए गीते नहीं माना जाएगा आत्मनिपद नहीं होगा तो शेषात कर्तरी परस्मय पदम शेषात कर्तरी थी परस्मय पदम पी पाएगा धातु में क्या था भू अगरे अच्छा गुण सूत्र पहला आया गुण नहीं आगे आ गया हाँ आ गया ना गुणो यंग लोग सूत्र आया है अभ्यास से गुणो यंग यंग लोग पीछे पर तो आए तो अभ्यास गुण हो जाएगा यंग पर हो तो गुण होता है यंग लोग पर तो भू को गुण होने से भू को गुण होने से भो भू धातु तो क्या हो गया भो भू यह है भो भू है धातु संज्ञा तीप हो गया कर्तव्य तो सप हुआ सप होगा सप होने के बाद पहले अदादिगण में कहा था चरकरितम च आया था क्या गण सूत्र कहते तो हैं गण में पठित सूत्रों का नाम गण सूत्र से जो आया अदादि में उसका पढ़ा गया चर्करित है यंग लुगंत की संज्ञा यंग लुगंत का नाम है चर्करितम ये चर्करित शब्द इसे बनता नहीं बनेगा नहीं बनाने पर चर्करित में पहले यदि यंग करके यंग लू करेंगे रितस्य से रूक आगमन तो हो जाएगा यंगोवा से ईट के ईट हो जाएगा किंतु आगे तीप होना चाहिए आगे निष्ठा है निष्ठा प्रत्यय त रहते यंगोवा से ईट होगा त तो प्रत्यय निष्ठा रहते से तो आगे आने वाला है फलादि पीत सार्वधातु ईट होता है त तो प्रत्यय ईट होगा चरकरित शब्द बनता नहीं ये संज्ञा है प्राचीनाचार्य संज्ञा यंग लोकति की संज्ञा सनत की संज्ञा क्या मान लीजिए चिकित्सितम ये नाम है अभी आया नहीं कोई जरूरत नहीं चिकित्सितम सनंत की संज्ञा है यंग लोकति की संज्ञा है चरकरितम ये अदाद तो अदादि में आ गया ये यंग लोग अंत जितने सब अदादि में माना जाएगा अदादि मन से क्या सूत्र लग जाएगा अभिप्रभुत्व सप से लुक हो जाएगा सबका लुप तो हो गया अभी क्या रहा भो भू पी यंगो वा यंग लुगंता परस्य हलादे पित सार्वधातुक सेठ वा सियात यंग लुगंता पर हलादि पीत सार्वधातुक तिप तिप हलादे पीते सार्वधातु के किस तो सूत्र से सार्वधातु को ईट बा विकल्प से ईट होगा सार्वधातु को पहले ईट प्राप्त था या नहीं आर्ध धातु को सीट बला सीट प्राप्त था या नहीं नहीं था वो आर्ध धातु को था ये सार्वधातु को पर ईट हो जाएगा विकल्प से ईट है दीर्घ ईट होने पर बो भू अगर ई पी बो भू ई पी ई किसको होगा तीस को तीस वन से आद्यम तो टकित हो आदि में हो जाएगा ये प्रत्यय हो गया अब भू को गुण प्राप्त है सार्वधातु पर परम ईति सार्वधातु के गुण प्राप्त है ना नहीं किस सूत्र से उसको निषेध करने के लिए कोई सूत्र है भू सुगो तिंगी भू सुगो तिंग पर तो गुण निषेध करता है आगे देखो भू सुवरिति गुण हो यंग लुकी भाषायाम न पढ़ो वो भूतु ते छंद से निपातनाथ भूसुभ तिंगी सूत्र से जो गुण निषेध किया जाता है यंग लुगंत में भाषायाम न लोक में प्रयोग नहीं होगा गुण निषेध नहीं होगा यंग लुक होने पर भू सुख तिंग होते गुण निषेध होता है यंग लुक होने पर जो तिंग पर रहते निषेध होता था लोक में निषेध नहीं होगा क्यों नहीं होगा वहाँ छंद में बहुत तैतिक ऐसे एक सूत्र है वो उसमें निषेध करता है सात चार पौसठ सूत्र है पहले से देखो सूत्र अष्टाधी निकाला वस्यापन फनत बड़े लंबा सूत्र है चार पैंसठ है हाँ दादर्थ दादर्थ वही हमें याद नहीं होता <laughs> लंबा सूत्र दादर्थ दर्दर्थी दरदर से बोभूत तो पेतित लक्ष्यापणी पनत सनसनी सदत करिकृत कनिक्रदत भरिभ्रत दविधतो दविद्युत तरित्रत सरिश्रीपतम बड़े ब्रजम मर्मृजा गनी गंती च ये सूत्र है निपातन क्या है उसमें भो भू तू ते ती ते दिया भो भू तू छंद में भो भू तू बनाया भो भो तू नहीं भो भू तू पुस्तक में किसके पुस्तक में भो होगा तो भू करो भो भू तू ते ती ते भो भूत में यहाँ गुण नहीं करके ऐसा बनाया भूसुभूतिंग से गुण हो तो भो भो तु होना चाहिए किन्तु छंद में निपातन किया भो भू तुम्हें गुण नहीं होगा निपातन करके गुण भाव किया यदि भूसुभूतिंगी सूत्र ही अंगुल में लग जाता तो निपातन की आवश्यकता नहीं थी अपने आप ही निषेध हो जाता वेद में भूभूत बनेगा अर्थात गुण नहीं होगा वेद में नहीं बनेगा करके निपातन करने से लोक में गुण हो जाएगा वेद में गुण नहीं होगा करके निपातन किया तो लोक में गुण हो जाएगा इसलिए यहाँ भाषायाम गुण निषेध नहीं होगा छंद में निपातन करने से इसलिए गुण हो जाएगा वो भो ईट टी था गुण हो गया भू को वो भो इति अबादेश हो जाएगा इसे वाय वो भवीति क्या बनेगा वो भवीति ईट होने से ही रूप बना वो भवीति ईट विकल्प से होता है ईट जब नहीं होगा भो भू अगर ती है गुण हो जाएगा भो ती दो रूप बनेगा एक वचन कौन सा रूप है भो भविति है दोनों भो भविति बो भोती एक वचन में तौसाने तो पर बो भू तस बो भू तस अभी भू को गुण प्राप्त है साधा तार धातु सूत्र से प्राप्त है कौन निषेध करेगा किंगति निषेध गौण नहीं होगा बो भूत बो भूति बो भविति बो भूत बो भूत आगे बो भू आगे क्या है जी जी को क्या होगा अधव्यस्ता अधव्यस्ता से अत हो जाएगा अतवन अत से क्या होगा वो उबंग हो जाएगा भो भू अगर अति भो भू अगर अति और अत है गीत है विधि गीत बत तो क्या सूत्र उपंग करने भू भूव उपंग नहीं अरे नहीं भू का गम भूव वो लुंग लेटो लुंग लेटो है ये तो लुंग लेटो नहीं ना नहीं भू भूग लुंग लेटो लुंग लेट नहीं इसलिए उपंग हो जाएगा भू का गो नहीं उभंग हो जाएगा अच्छी सुन धातु से उभंग हो जाएगा तो क्या बनेगा वो भूवती क्या बनेगा वो भूवती अच्छी सुन से उभंग होगा लूंग में लीट में तो भू का आगम होता है लूंग लीट नहीं अच्छी सुन धातु से उभंग हो गया अध्यवस्था से अभ्यस्त संज्ञा अभ्यस्त उभे अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा अध्यवस्था से ज को अत हो गया अति हो गया अच्छी सुन से उभंग तो क्या बनेगा भो भवती और फिर सिप में क्या बनेगा दो बनेगा ईट e पक्ष में भो भविष्य और ईट e नहीं करेंगे तो भो भो सी सी में सकार आदेश प्रत्यय लग गया हाँ तो क्या रू बना सिप में भो भविष्य भो भो सी थस में भो भूथ आगे भो भूथ मृत में क्या बनेगा बो भविमी भो भूमि आगे भो भो वह भो भो मह मोर रूपल भो भो भोती भो भुवती फिर बोलो भो भवीति भो भोती तो भवीति किसने बोला भो भुवती फिर बोलो भो भवीति

आम होने पर भू को गुण हो जाएगा सार्वधातु का गुण अबादेश क्या बनेगा वो भवान आम से लोक विक्रम चारण लिटी वो भवान चकार बोलो वो भवान चकार भाष करेंगे तो भो मास बोलो भो मास धातु क्या है अभी बो भू क्या है बो भू ताश आएगा ईट होगा गुण होगा अब आदेश क्या बनेगा वो भविता बोलो लेट लकार में होगा किस तरह से त्यक ईट होगा किस सूत्र से भो भू अगर ईट है त्यय गुण होगा किस सूत्र से क्या रू बनेगा बोलो हाँ ये तो रूप लिख दिया है लोट लकार क्या क्या बने लोट लकार में एक वजन में प्रथम पुरुष एक वजन में वो भाभी तो वो वो पहले वो भाभी भवितु वो वो तू फिर वो वो भवितात भवितात बनेगा वो भूतात क्यों तापंगी ते गुण नहीं वो भूतात और दूसरा ठीक नहीं होगा विकल्प से क्यों नहीं होगा है गीत कहना नहीं पीत नहीं है कहो अबादि पीत सार्वधातु को ईट विकल्प से होता है तात्म गीत ही पीत नहीं मिलने से तात्म को ईट नहीं होगा तो कीर्तन रूप हुआ तीन बोलो फिर तीन क्या क्या वहाँ वो भवी तो गोभूता आगे ताम में गोभूतान आगे भो भुवंतु भुवतु अधोग्रता भो भुवतु आगे भो भू भो भू ही यहाँ भी ईट नहीं होगा ही अपिति है भो भू ही और भूता कितने रूप हुआ दो आगे भूतान हम्म, वो अणावर्त है क्या वो भवानी भो भवानी हम्म, लंग लकार में बनना लंग लकार क्या बनेगा अब भवितु भवित नहीं भवित अबो भवित एक रूप दूसरा अबो भूत और दो रूप नहीं बनेगा ईट विकल्प से होगा ईट पक्ष में क्या बनेगा अबो भवि किस नहीं होगा तो अब भूत ताम अब भूता आगे अब भुवन अब भुवन में हो जाएगा उभंग हो जाएगा अब भुवन आगे सिर्फ में अब भवि ही है सिजभ्य विधि जी को जूस होगा तो जैसे जब गुण हो जाएगा अब बाबू हो क्या बनेगा अब भबू है अब भबू अब भबू ठीक है क्या हुआ सिज व्यस्त विधिवत से जूस हुआ और जूस चैसे गत गुण और अभी सुर से बोला लंग कारण अबो भवि अबो भो अबो भूता अबो बाबू सिर्फ में अबो भवि अब भो हाँ। यहाँ भी आम है अब गुण हो जाएगा अब ईट नहीं होगा गुण के अनुसार क्या बनेगा अब भवम क्या बनेगा भवम भूव नहीं अब भवम आगे अबो भूव अब भूमा उत्तम पुरुष एक कितने में बना तीन बना मध्यम पुरुष एक वजन कितने बना दो प्रथम पुरुष एक वजन है दो मध्य प्रथम पुरुष बहुजन क्या बना अब भबू हाँ विधिले में क्या बनेगा भो भू धातु या या तो भू भू या तो बनेगा यास के सकार का लोप हो जाएगा लिंग स्वलोपन अंत से क्या बनेगा भो भू या तो बोलो कर ले बबोयु यायु क्या बभूयात बभूयाता असले में प्रथम पुरुष क्या बनेगा वो भूयात बिथले में जो बना था असले में वही बनेगा आगे बोलो भूयासो

गा पिता घुपा भू शिष्य प्रश्न डूक हो जाएगा तो क्या बनेगा अबो भूत अबो तीप को ईट आगम होगा अतिशिच्य प्रत्यय ईट अतिशिच्य प्रत्यय ईट होगा अबो भवित अच्छा हाँ दिया दिया इसमें गापिस्ता शिशु लोग कहने पर यंगो वाई ईट पक्षे गुणम बाधित्वा नित्यता भूख यंगोबा में जब ईट हो जाएगा तो भी ईट हो गया किस तरह से यंगोबा शिष्यलोक हो गया अस्तिष्य पुत्र नहीं लगेगा विद्यमान शिष्य पर होता शिष्यलोक हो गया तो अस्तिष्य पुत्र नहीं लगेगा ईट पक्ष में गुण प्राप्त किस सूत्र से भूसुगस्तिंगी कुछ को बाध करके यानी भूसुगस्तिंग तो निषेध करता है सारे गुण प्राप्त है उसको बाद करके भूख हो जाएगा भूख भूख लुंग लिटो लुंग कारण से नित्यता तत्व को क्यों गुण करेंगे तो भी भूख आगम हो जाएगा नित्य कृता कृत्य प्रसंग विधि नित्य नित्य होता है अंतरंग नित्य होता है बलवान इससे पहले भूख हो जाएगा भूख उनसे अबो अबो वीत बने अबो भू अबो भूबीत क्या बनेगा अबो भूबीत भू है आगे भूख ईट तो अबो भूबीत बनेगा ईट पक्ष में जब ईट नहीं होगा अब भूत अबो भूभित अबो भूत दो बनेगा पहला क्या रूप ना अबो भूबित दूसरा अबो भूत ता में आने पर क्या बनेगा अब भूता और वहाँ जूस हो जाए सिद्ध सीधे व्यस्त विधि व्यस्त अभ्यस्त को मानकर जूस होगा नहीं भूक हो जाएगा अब भू भूभू अब भूभु अब भूभुद्या है अब भूभु भू भूक हो गया अब भूभु उस कहाँ से शिष्टता नहीं रहा कैसे वो अभ्यस्त को मान करके हो जाएगा जी जूस होने के बाद भूख होगा आगम होगा किस सूत्र से भू भू लूंग लिटो क्या रूप ना अब भू भू भू भू दीर्घ है ना नहीं वो नहीं हुआ भूख हुआ तो क्या बनेगा अब भू भू सिर्फ में ईट पक्ष में क्या बनेगा ईट पक्ष में भी गुण को बात करे भूख हो जाएगा अब भोगी अब ईट जब नहीं होगा अब भो हो तम में अब भूतम आगे अब भूत अम है आम पक्ष में भूख हो जाएगा अबो भुवम अबो भूवम अबो भूवम अबो भूव अबो भूम गुणों को बात करके फिर ऊपर इसको अबो भूवि अबो अब अबो भूबु अबो आगे अबो भूवि अबो भूता लिंग लकान में धातु क्या है वो भू श्य को होगा गुना हो जाएगा अबो भविष्य क्या बनेगा अब भविष्य तरल ले बोलो अबो Yeah. लुंग लकार में कैसे रो तो बना प्रथम से एक वचन है भो भो भू धातु है धातु क्या है भो भू भो में वो कहाँ से आया गुण कैसे हो गया है कोई सूत्र है गुणो यंग की अभ्यास को गुण हुआ भो भू यंग कहाँ गया यंग को लुक हो गया धातु क्या है भू भू अभू कहा भू भू धातु है और टागम करें तो हो जाएगा आगे तीप आएगा सिच होगा सिले लूंगी सिले सिच सिच का लू करने के लिए क्या सूत्र हाँ ये के उसमें प्रकृति ग्रहण है यंग लूंगा तो ग्रहण ये वचन है भू का नाम है भू भू धातु है गा तिस्ता भूपा भूभ्य भू का नाम है भू भू धातु है तो भू धातु के लुक के कहने से कहने से यंगलुगत का भी लग जाएगा यंगलुगत भी लग जाएगा टिप्पणी दिया है प्रकृति ग्रहण यंगलुगंत से आप ग्रहण इसलिए भू के सिच का लुक हो गया लुक होने पर क्या रहा वो भू तकार इत हो गया तो रहा और यहाँ ईट होता है कि सूत्र से यंगोवा से ईट होगा विकल्प से ईट पक्ष में भू को गुण प्राप्त है सारुता दात सूत्र से गुण प्राप्त है और एक सूत्र प्राप्त से भूख प्राप्त है क्या सूत्र भो भोग लुंग लिटो या लुंग या लिटे लुंग लकार से भूख प्राप्त है किस सूत्र से अच्छा यदि पहले भूख कर देंगे तो सार्वता धातु से गुण होगा फुगंत रूप से गुण होगा भूख हो जाएगा तो फुगंत रूप से गुण होगा ये तो समझ नहीं आता है भू ईट तकार है भूख जब हो जाएगा वकारांत हो गया उपधाम में वो आ गया तो पुगंत लोग से गुण होगा क्यों नहीं होगा नहीं नहीं हाँ उपधान में ऊ दीर्घ है लघु नहीं है भू दीर्घ है उपधान में तो ऊ है लघु नहीं है पुगंत लघु से गुण नहीं होगा और सार्वता धातु से गुण नहीं होगा भू को गुण यदि पहले कर देते हैं किस सूत्र से तो भू को होगा या नहीं भू को वो हो गया भो बन गया फिर भू तो सूत्र से भू का आगम होगा या नहीं क्यों नहीं होगा भू धातु तो है ही एकदश भी नहीं निवत भू को वो हो गया तो भू धातु रहेगा ना नहीं छिन्न पुसे छिन्न पुसे छिन्न पुसे सुनी जिस कुत्ता का पूछ कट गया उसको हाथी कहेंगे या बाघ कहेंगे क्या कहेंगे कुत्ता का पूछ कट गया तो हाथी हो जाएगा या गधा होगा क्या होगा कुत्ता ही रहेगा एक देश विकृत माना नहीं बता वो भू के ऊ को गुण होने पर ही भू धातु है तो भू भो भू लुंग लिटर से भू का गम हो जाएगा तो भू को पहले करेंगे तो हो सकता है गुण करने के बाद ही हो जाएगा कृता कृता प्रसंगी वो विधि सानिध्य गुण करने के पहले भी भूख हो सकता है गुण करने के बाद भी भूख हो सकता है इसलिए भूख हो गया नित्य किंतु पहले भूख कर देंगे तो गुण होगा भूख पहले करने पर गुण होता है नहीं होता अभी देखा है भूख करेंगे तो दंग नहीं रहा भूख करेंगे तो गुण नहीं होगा गुण कर देंगे तो भी भूख हो सकता है इसलिए भूख नित्य हुआ नित्य होने का ना भूख हो जाएगा गुणों को बात करके गुण नहीं हुआ भूख हो गया भूख होने पर क्या रूप बना अब भूविद भूविद अब भूविद भू दीर्घ हाँ, है रसोय वी है दीर्घ है क्यों ईट दीर्घ है क्या रोको ना अब भूविद ये ईट पक्ष में जब ईट नहीं होगा उसमें भू का कम होगा क्यों नहीं होगा हाँ भूगो भूग सूत्र से अजाद प्रत्यय होगा अच नहीं है अच नहीं तो भू का कम नहीं होगा तो भंग हो जाएगा गुण होगा तो क्या बनेगा अब भूत अब भूत पहला रूप क्या बना था अब भूबी दूसरा रूप क्या बना अब भूत ताम में क्या बनेगा उताम और झी आने पर क्या बनेगा अब भूभु भू भू भू है आगे ऊ से उसकी सूत्र सहेगा विदेश जूस हुआ जूस होने के बाद क्या सूत्र लगा जो सिंचाई ईगंत गुणों को बात करके हो जाएगा भूख भूख किस तरह से भूख होने पर क्या रूप बना अब भू भू क्या होना अब भू भू शीत में क्या रूप बनेगा अब भाभी ही एक रूप दूसरा रूप अब भो हो अब भाभी भाभी बनेगा भी अब भू भी भू दीर्घ बी दीर्घ गुण नहीं होगा अब भो भी और अबो भो आगे तमे में अबो भूतम आगे अब भूतम अरे मीप कम हुआ अमन पर भू को भू का गम हो जाएगा अब भूवम क्या बनेगा भूवम अब दूसरा रूप बनेगा आगे अब भूव अब हाँ बोल दो फिर एक बार अब भूवी अब भूवी हाँ अवो भो अवो भू आगे अवो भूवीरी अवो हो अवो भू दीर्घ है अवो भूवम अवो भूव ओम मृतावसाने